अस कही चला महायभिमानी तीन समान सुग्रीवहि जाने बिरे भो तर जा मुठिका मारे महाधुनि घर जाऊ तब सुग्रीव बेकल हो भागा मुष्टि प्रहार वज्र समलागा मैं जो कहा वीर कृपाला बंधु न हो मोर यह काला ऐसा कहकर वह महान अभिमानी बाली सुग्रीव को तिनके के समान जानकर चला दोनों भिड़ गए बाली ने सुग्रीव को बहुत धमकाया और घूसा मारकर बड़े जोर से गरजा तब सुग्रीव व्याकुल होकर भागा घूसे की चोट उसे वज्र के समान लगी सुग्रीव ने आकर कहा हे कृपालु रघुवीर मैंने आपसे पहले ही कहा था कि बाली मेरा भाई नहीं है काल है एकूपुम भ्राता दो तहि भ्रमते नहि मारे कर सो सासो ग्रीव शरीरा तनुभाकुलस गई सब पीरा मेली कंठ सुमन कर माला पठवा पुण्य बल दे विशाला पुण्य नाना विधे भैल लराए बिटप ओट दे खही रघुराए श्री राम जी ने कहा तुम दोनों भाइयों का एक सा ही रूप है इसी भ्रम से मैंने उसको नहीं मारा फिर श्री राम जी ने सुग्रीव के शरीर को हाथ से स्पर्श किया जिससे उसका शरीर वज्र के समान हो गया और सारी पीड़ा जाती रही तब श्री राम जी ने सुग्रीव के गले में फूलों की माला डाल दी और फिर उसे बड़ा भारी बल देकर भेजा दोनों में पुनः अनेक प्रकार से युद्ध हुआ श्री रघुनाथ जी वृक्ष की आड़ से देख रहे थे बहु छल बल सुग्रीव कर हारा मारा बाल राम तब हृदय माझ सरतायनी सुग्रीव ने बहुत से छल बल किए किंतु अंत में भय मानकर हृदय से हार गया तब श्री राम जी ने तान कर बाली के हृदय में बाण मारा परा विकल महेशर के लागे उन्हीं उठ बैठ देखी प्रभु आगे श्याम गात सिर जटा बनाए दारुण नयन सर चाप चढ़ाए पुनि पुनि चित चरण चित दीनाम सुफल जन्म माना प्रभु चीनाम हृदय प्रीति मुख बचन कठोरा बोला चित राम की वो राम बाण की लगते ही बाली व्याकुल होकर पृथ्वी पर गिर पड़ा किंतु प्रभु श्री रामचंद्र जी को आगे देखकर वह फिर उठ बैठा भगवान का श्याम शरीर है सिर पर जटा बनाए हैं लाल नेत्र है बाण लिए हैं और धनुष चढ़ाए हैं बाली ने बार बार भगवान की ओर देखकर चित्त को उनके चरणों में लगा दिया प्रभु को पहचान कर उसने अपना जन्म सफल माना उसके हृदय में प्रीति थी पर मुख में कठोर वचन थे वह श्री राम जी की ओर देख कर बोला धर्म हेतु तरे हो गुसाए मारे हु मोहे व्याध की नाये मैं बैरी सुग्रीव अब अवगुण कवन नाथ मोहि मारा अनुज बधु भगिनी सुत नारी सुनु सठ कन्या समय चारी इन्हें कुदृष्टि बिलोकई जोई ताहि बधे कछु पापन होई हे गुसाई आपने धर्म की रक्षा के लिए अवतार लिया है और मुझे व्याध की तरह छिप कर मारा मैं वैरी और सुग्रीव प्यारा हे नाथ किस दोस्त ने आप किस दोस्त से आपने मुझे मारा श्री राम जी ने कहा हे मूर्ख सुन छोटे भाई की स्त्री बहन पुत्र की स्त्री और कन्या ये चारों समान है इनको जो कोई बुरी दृष्टि से देखता है उसे मारने में कुछ भी पाप नहीं होता मूढ़ तो ही अतिशय अभिमान नारी सिखावन करसी नकानाम मम भुज बलयाश्रित ही जानी मारा चहसी अधम अभिमानी सुनहु राम स्वामी सन चलन चातुरी मोर प्रभु अजहू मैं पापी अंतकाल गति तोरी हे मूढ़ तुझे अत्यंत अभिमान है तूने अपनी स्त्री की सीख पर भी कान ध्यान नहीं दिया सुग्रीव को मेरी भुजाओं के बल का आश्रित जानकर भी अरे अधम अभिमानी तूने उसको मारना चाहा बाली ने कहा हे राम जी सुनिए स्वामी आपसे मेरी चतुराई नहीं चल सकती हे प्रभु अंतकाल में आपकी गति शरण पाकर मैं अब भी पापी ही रहा सुनत रामयति को मलबानी बाल से सपर से उन्हें जपानी अचल करऊँ तनु राख प्राणा बाली कहा सुनो कृपानिधान जन्म जनममुनि जतन कराहे अन्तराम नाहे जासु नाम बल काशी देत सम गति विनाशी बाल की अत्यंत कोमल वाणी सुनकर श्री राम जी ने उसके सिर को अपने हाथ से स्पर्श किया और कहा मैं तुम्हारे शरीर को अचल कर दूं, तुम प्राणों को रखो बाली ने कहा हे कृपा निधान सुनिए मुनिगण जन्म जन्म में प्रत्येक जन्म में में अनेकों प्रकार का साधन करते रहते हैं फिर भी अंतकाल में उन्हें राम नहीं कहा आता उनके मुख से राम नाम नहीं निकलता जिनके नाम के बल से शंकर जी काशी में सबको समान रूप से अविनाशनी गति मुक्ति देते हैं